और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में भी सोचने समझने का बड़ा सामान है उनके पेट में जो गोबर और खून है उसके बीच में से हम तुम्हें ऐसा साफ सुथरा दूध पीने को देते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है